तव माया बस जीव जडन् सन्तत फिरहि तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिन्धु भगवान् शङ्कर दीन दयालयब एहि पर हो कृपाल सापयनुग्रह हो जहे नाथ थो रही काल हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर अब इस पर कृपालु होइए कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए ऐही कर हो परम कल्याणा सोई कर हो अब कृपा निधाना विप्रगिरा सुने परहित साने एवमस्तु ये भय न बबानी यद्यपि नही दारुण पापा पुनिद में पुनिदीन कोप कर तदपि तुम्हारी साधुता देखे हूँ यही पर कृपा विषेखी हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो दूसरे के हिस्से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई एवं वस्तु ऐसा ही हो यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा से जे पर उपकारे ते द्विज मोहे प्रिय जथा खरारे गोर साप द्विज व्यर्थ न जाए जन्म सहस अवशयः पाई जनमत मरत दुसह दुख एहि स्वल्पनहि सोई सोय हु जनम मिटहि नहि ज्ञाना सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाण हे द्विज जो जब क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी हे द्विज मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा यह हजार जन्म अवश्य पावेगा परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा हे शूद्र मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन रघुपति पूरे जन्म तव भयवो पुण्यमय मम से पुनितय मम से वामन दयो पुरी भय भाव प्रभाव अनुग्रह मो राम भगति उपजहि उर तोरे सुनु मम बचन सत्य भाये सेवकाय अब जन करहि विप्रयपमाना जाने सुसंतयनंत समाना प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी हे भाई अब मेरा सत्य वचन सुन द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना इंद्र इन्द्रकुलिस मम दंड हरी चक्र कराला सोइन कर मारा नहि मर बेप्रदोह पावक सो जरई अस विवेक राहु मन माहे तुम कह जग कगदुर्लभकुनाहि और एक आशीषा मोरे अप्रतिहत गति हो तोरी इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रदोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है ऐसा विवेक मन में रखना फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारे सर्वत्र अबाध गति होगी अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे सुन शिव बचन हरस गुर एवं भाषिम मोहि प्रबोध गय गृह शंभु चरण उर राखि प्रेरित काल विधि गिरे जाय भयऊ मैं ब्याल पुण्य प्रयास बिनु सो तनु तजव गए कछुकाल आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया